श्री नम श्री श्रीगोसाई तुलसीदास रचित विनय पत्रिका विनयपत्रिका भावार्थ सहित तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीगणेशस्तुतिः गायिके कर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज बदन नायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक मोदक प्रिय मुद मंगलदाय दस कर जोरे दस राम मानस संपूर्ण जगत के वंदनीय गणों के स्वामी श्री गणेश जी का गुणगान कीजिए जो शिव पार्वती के पुत्र और उनको प्रसन्न करने वाले हैं जो सिद्धियों के स्थान है जिनका हाथी का सा मुख है जो समस्त विघ्नों के नायक हैं यानी विघ्नों को हटाने वाले हैं कृपा के समुद्र है सुंदर हैं सब प्रकार से योग्य हैं जिन्हें लड्डू बहुत प्रिय है जो आनंद और कल्याण को देने वाले हैं विद्या के अथाह सागर हैं बुद्ध के विधाता हैं ऐसे श्री गणेश जी से यह तुलसीदास हाथ जोड़कर केवल यही मर मांगता है कि मेरे मन मंदिर में श्री सीताराम जी सदा निवास करें सूर्य स्तुति दीन दयाल दिवाकर देवा कर मुनि मनुज राम तरी के हरि करमाली दहन thôn से तुम कर तुरत कोक कोक नद लोक प्रकाश तेज प्रताप रथ गामी हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी वेद पुराण प्रगट जस जाति तुलसी राम भगत बरमाए हे दीन दयालु भगवान सूर्य मुनि मनुष्य देवता और राक्षस सभी आपकी सेवा करते हैं आप पाले और अंधकार रूपी हाथियों को मारने वाले वनराज सिंह हैं किरणों की माला पहने रहते हैं दोष दुख दुराचार और रोगों को भस्म कर डालते हैं रात के बिछड़े हुए चकवा चकवियों को मिलाकर प्रसन्न करने वाले कमल को खिलाने वाले तथा समस्त लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं तेज प्रताप रूप और रस के आप खानी हैं आप दिव्य रथ पर चलते हैं आपका सारथी अरुण पंगु है हे स्वामी आप विष्णु शिव और ब्रह्मा के ही रूप हैं वेद पुराणों में आपकी कृति जगमगा रही है तुलसीदास आपसे श्री राम भक्ति का वर मांगता है